आचार्य धर्म का हलाकार ऐसा देखा जाता है अलाप घूमता है वो घूमते हुए में जब दृष्टि डालते हैं वो दृष्टि भी घूमती हुई लगती है वास्तव में दृष्टि घूमती नहीं यानी ग्राह्य का धर्म ग्राहक में प्रतीत होता है इसलिए उसको अनित्य समझते हैं लोग क्योंकि बाह्य जो चक्षुरादि वृत्ति जो दृष्टि है अंतकर्मी वृत्ति उसके ग्राहक का है आत्मदृष्टि मान मनोवृत्ति का ज्ञाता है वो तो उसमें ग्राह्य का धर्म ग्राहक में भाषता है वास्तव में होता है आत्मदृष्टि नित्य है अनित्य नहीं है लोक में जो अनित्य तो प्रतीत होने का मतलब उपाधि है ग्राह्य का धर्म ग्राहक में भाषता है ऐसा इसके आगे टीका चलने भाष्य चलना है टीका में नानो आत्मदृष्टि नित्यत्व कथम परीक्षका परीक्षा कुशलाणाम अयिका सर्वस्व सर्वस्व लोक से कहते देखो भाई पूर्वादि कहता आत्मदृष्टि यदि नित्य है तो फिर सामान्य जनों की बात छोड़ी जाए तो परीक्षा में कुशल लोग हैं निपुण नैयायिक आदि वस्तु विचार करने में बहुत निपुण है परीक्षा करने में परीक्षा कुशलाना नैयायिका और सर्वस्व लोग एक दो को तो भ्रम हो जाए कोई नहीं सबके सबको भ्रम होता है सब अनित्य सबको अनित्य दिख रहा है दृष्टि दिख रही है तो नैयायिक जैसे जैसे बड़े बुद्धिमान लोग हैं उनको भी अनित्य दिखता है क्यों दिखता है और सभी लोगों को होना भ्रम तो किसी को होता है किसी को नहीं होता है सब सभी अनित्य ही मानते हैं आत्मदृष्टि यदि आत्मदृष्टि देते हैं तो सबको सारे लोगों को नैयायिक जैसे परीक्षा में कुशल है वस्तु विचारों में सक्षम है उनको कैसे ऐसा अनित्य भ्रम होता है वो अनित्य ही है उनका कहना था शंका हो गई तो उत्तर दिया उत्तर दे रहा परिषद ने कहा न नरेण अवरेण प्रोक्ता ये सुबुद्धियों बहुरा चिंतमाना तो सामान्य व्यक्ति के द्वारा निकृष्ट पुरुष के द्वारा कह जाने पर यह आत्मा सुविज्ञा ही नहीं होगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा सुविज्ञा नहीं होगा क्यों बहुत प्रकार से चिंतमान है आत्मा के विषय में बहुत चिंतन है लोगों का भिन्न भिन्न मत है अस्थि नास्ति से शुरू होता है पहले तो एकदम बोलता है आत्मा है एकदम बोलता है नहीं है से शुरू होगा अस्थि या नास्तिक नास्तिक लोग कहते नहीं है और आस्तिक लोग बोलते हैं है यही तो पहले यही घेर है बहुधा माना अस्तित्व न नास्तित्व न और भी अस्थि मानने के मत में भी एक है कि अनेक है गुण वाला है कि निर्गुण है बहुत सारे हैं परिमाण कैसा अणु है कि महत है कि मध्यम है कि क्या परिमाण वाला है करता है कि अकर्ता है बहुत सारे विचार उठना है यहाँ बहुधा चिंतमान है आत्मा इसलिए सामान्य जन के द्वारा कहे जाने पर यह आत्मा सुविज्ञा नहीं होता ऐसा कहा है और भी कहा क्षेत्र में नैसा तर्केण मतिराप अनया प्रोक्ता अनन्य संख्याना प्रष्ठा ऐसा कहा ये जो तुम्हारे तुमने जो बुद्धि को प्राप्त किया है इस बुद्धि को तर्क के द्वारा खोने योग्य नहीं है आत्मज्ञान अनन्य व प्रोक्त्या सुज्ञानाय भगवती प्रश्न रहे प्रियतम अनन्य अनन्य भाव में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा आत्मभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति उसके द्वारा कहने पर ही सुष्ठु ज्ञान के लिए होगा ऐसा कहा इत्यादि श्रुति ऐसा श्रुतियां हैं होने से स्वबुद्धिया ज्ञान तुम अशक्य अपने अटकलबाजी से इस आत्मा को जानना संभव नहीं अटकलबाजी के बाद में अनुमान से सिद्ध करना संभव है स्वबुद्धिया अपने बुद्धि से जानना संभव नहीं और नहीं आए अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा है अपने बुद्धि से जो सिद्ध कर सकते हैं उसी को मानते हैं तो सो बुद्धि अज्ञातम असत्यत्वा तो अपरमार्थ संप्रदाय परंपरा या एवं ज्ञातव्य तो अपरमार्थ संप्रदाय परंपरा से ही गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जान योग्य है ऐसी होता है इसलिए पेशा तद रहता तो आयु वो नहीं है गुरु परंपरा से पढ़ते नहीं हो अपने बुद्धि को अपने भरोसा है बुद्धि ने जो निश्चय कर दिया उसी को मान के चलते हैं तद रहित गुरु संप्रदाय परंपरा रहित होने के कारण भ्रमो युक्त उनको भ्रम होना से युक्त है माने आत्मबुद्धि को अनित्यत्व भ्रम होना युक्त है ठीक है एक कहते हैं भाष्य में बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि बसात तो लोकस्य लोगों को जो आत्मदृष्टि में अनित्यत्व दिख रहा है यद्यपि आत्मदृष्टि दृष्टि नित्य है वो तो दृष्टि का दृष्टा है नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीलोक विद्यते ऐसा स्थिति है दृष्टा की जो दृष्टि चक्षुरादि की जो दृष्टि है तो अनित्य है वो तो विषय संयोग से होना है विषय संयोग होने पर होना विषय का अभाव में नहीं होना और स्वयं ठीक हो तो होना नहीं तो नहीं होना वो तो अनित्य है तो दृष्टा की जो दृष्टि है उसका अभाव कभी नहीं होता कहा हमेशा रहेगा तो कहा बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वसात तो बाह्य जो अनित्य दृष्टि है वो उपाधि है उसके बल से बस से आत्मा की दृष्टि भी अनित्य दिखाई पड़ता है एक जैसे पहले दृष्टांत दिया था भ्रमणादि धर्म वाला अलाद के घूमने पर दृष्टि भी घूमती सी लगती है तो, तो दृष्टि घूमती नहीं वहां ऐसे कहा नाम से तार्किक लोग तो क्यों होता है कहता आगव संप्रदाय पर वेदांत परंपरा के अनुयायी नहीं है वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार से पढ़ते नहीं वेदांत को अपने बुद्धि से जो निर्णय लिया वही मान के चलने वाले आगव संप्रदाय वर्गी तत्व अनित्य आत्मदृष्टि की और उत्पन्न हो गया अनित्य आत्मदृष्टि अनित्य मानते हो उन्होंने यही देखा कि अलात आदि के घूमने पर दृष्टि भी घूमती हुई सी लगी तो दृष्टि अनित्य होती कौन सी दृष्टि अनित्य होती है उनको पता ही दृष्टि अनित्य होती बोले जाते हैं ये भ्रांति है भ्रांति सिद्ध है वास्तव में आत्मदृष्टि अनित्य नहीं और दूसरी बात जीवेश्वर परमात्मा भेद कल्पना से एकम निमित्ता कि भ्रांति निमित्त की जीव ईश्वर परमात्मा की भेद की कल्पना करते हैं वास्तव में जीव ईश्वर परमात्मा तीन भेद में आत्मा एक ही है ये भी भ्रांति को लग है उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न मानते हैं वास्तविक मानते हैं औपाधिक भेद मानना एक अलग विषय है किंतु वास्तविक भेद मानते जीवेश्वर परमात्म भेद कल्पना से ये निमित्ता है ये भ्रांति निमित्त की है भ्रांति के कारण होता था टिप्पणी एक नंबर में कहा जीवेश्वर परमात्मा इस प्रकाशन में जो त्रिषक पृष्ठ में कहा था ननो त्रय आत्मान यहां से पूर्वाद ने कहा था एक जीवात्मा एक स्वरात्मा एक परमात्मा तीन आत्मा है कहा था यहां से उपक्रम अनुसार यहां से आरंभ के माध्यम से जीवो ईश्वरों ब्रह्म यदि भेद करना ये तीन प्रकार के मानते हैं आत्मवादी लोग वो भी भ्रांति होगा कि उपाधि को लेकर के वास्तविक भेद मानते हैं तो वास्तविक भेद मानते हैं तथा इसी प्रकार और भी कल्पना बहुत सारे आ जाते हैं आत्मा यही भ्रांति के कारण से तथा अस्थि नास्ति इत्यादि अस्थ अस्थि नास्ति इत्यादि बहुत प्रकार की कल्पना है कोई कहता आत्मा है कोई कहता नहीं है आस्तिक लोग बोलते आत्मा है नास्तिक बोलते नहीं है इत्यादि बहुत सारी कल्पना है टीका में दिखाऊंगे तो बांग मनसोर भेद जितने भी बाणी और मन के जो विषय हैं जितने भी भेद हैं जहां तक वाणी विषय करती है अथवा मन विषय बनाता है यत्र एकम होती सबके सब विषय भेद जिसमें एक हो जाते वो होता आत्मा सारे के सारे जिसमें एक हो जाते हैं विषय आया नित्याया दृष्टि आया भ्रांति निमित्त सर्वाधिक कल्पना एक सारी कल्पना भ्रांति निमित्त है माने जिसमें बाहरी और मन के जो जितने भी विषय होते हैं भेद हैं जिसमें एक हो जाते हैं सारे के सारे ऐसे आत्मा को विषय करने वाली नित्य दृष्टि जो होगी उस निर्विशेष दृष्टि उसमें सारी ये कल्पनाएं हैं वास्तव में आत्मा निर्विशेष है ज्ञान स्वरूप है उसमें सारी कल्पना हो जाती है अस्थि नास्ति ये कल्पना भ्रांति निमित्तक है धर्म के कारण है अन्य धर्म को अन्य में ला करके मानते हैं ये बोलना चाह रहे हैं ठीक है न केवलम ज्ञान भेद कल्पना एवं तेषा भ्रम किंतु आत्मभेद कल्पना भी ये तन्मूलो भ्रम वही क्या न केवल ज्ञान भेद ईश्वर को योगपत्य ज्ञान होता है मानते सर्वज्ञ है ईश्वर और जीवों को अयोगपत्य ज्ञान होता है दो ज्ञान ईश्वर को होने वाला ज्ञान योगपत्य एक एक ही काल में सभी वस्तु को विषय करता है ऐसा ज्ञान योगपत्य ज्ञान और जीवों का जो ज्ञान होगा एक को जानता है दूसरे को नहीं जानता अयोगपत्य ज्ञान जो ज्ञान भेद की कल्पना करते हैं ज्ञान भेद कल्पना एक तेसाम भ्रम यही मात्र उनको भ्रम नहीं योगपत्य अयोगपत्य आदि जो ग्रहण में भ्रम है इतने कल्पना नहीं उनकी भ्रम भ्रांति नहीं किंतु आत्मभेद कल्पना भी भ्रांति तीन आत्मा मानना भी भ्रांति मूलक है आत्मा में जो भेद मानते हैं किंतु आत्मभेद कल्पना भी एतन मूल भ्रांति मूलक ही है ये माने <clears throat> अज्ञान मूलक ही है भ्रम एक ज्ञान इसलिए जीवेश्वर इत्यादि का है जीवेश्वर परमात्मा तो से करना से तन्निमित्ता तो ये तन्निमित्ता है ज्ञान नित्यत्व तद भेद कल्पना निमित्ता है वह यहां कुछ पाठ है क्या सुधारा ज्ञान नित्यत्व ज्ञान में नित्यत्व और अनित्यत्व के समान उसकी भेद की कल्पना जो जीवेश्वर आदि की भेद की कल्पना भी निमित्ता तन निमित्ता है कल्पना भी निमित्त ही है अरे भ्रांति निमित्त की जीवेश्वर आदि के कल्पना इसी की व्याख्या है आगे नित्य अनित्य ज्ञान बतो जीवेश्वर नित्य ज्ञानवान ईश्वर अनित्य ज्ञानवान जीवा नित्य अनित्य ज्ञान बतो नित्य के ज्ञान और अनित्य ज्ञान वाले जो जीव ईश्वर में विचित्र ज्ञान बताम जो जीवान और परस्पर जीवों का ज्ञान भी अनित्य होते हुए विचित्र है एक को तो कुछ दूसरा ज्ञान है तो इसको दूसरा ज्ञान है कोई अस्तित्व नहीं जानता है कोई नास्तित्व नहीं जानता जीव जी कोई एकत्व नहीं जानता कोई अनेकत्व नहीं जानता है विचित्र ज्ञान भी है नित्य अनित्य ज्ञान हो तो जीवेश्वर जीव और ईश्वर में एक में नित्य ज्ञान है नित्य ज्ञानवान ईश्वर है नित्य ज्ञान वाला ईश्वर होता है और अनित्य ज्ञान वाला जीव होता है ये दोनों में और विचित्र ज्ञान तो जीवान दूसरे जीवों का ज्ञान भी विचित्र है एक जैसा ज्ञान एक वस्तु में नहीं होता अपने कल्पना के आधार पर वस्तु को देखता है जीव कोई भी वस्तु होगा कोई शत्रु रूप में देख रहा है कोई मित्र रूप में देख रहा है कोई उदासीन रूप में देख रहा है अपने कल्पना के आधार पर ही वस्तु को देखता है जीवों के स्वरूप है एक ही कोई भी एक सामने वस्तु हो उसको एक रूप में कोई भी नहीं है इसके मतलब वस्तु निर्विशेष होता है सारी कल्पना विशेष में है वस्तु वास्तव में निर्विशेष है वो निर्विशेष में कल्पित है वास्तव में वस्तु में निर्विशेष है में कल्पित ऐसा है कल्पना भिन्न भिन्न होती है एक ही वस्तु को अनेक रूप में पाया जाता है दृष्टि भेद से कल्पना भेद से भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है नित्य अनित्य ज्ञानवत और जीवेश्वर विचित्र विचित्र ज्ञानवताम से जीवा नाम नित्य और अनित्य ज्ञानवान जीवेश्वर का और विचित्र ज्ञान वाले जो जीव हैं भिन्न भिन्न ज्ञान वाले जीवों का परमात्मा और परमात्मा का एकत्व न संभवती एकत्व हो नहीं सकता है ऐसा करके युक्ति के आभास लेकर के बोलते अनुमान देते हैं वो जिसरा जीव ईश्वरा भिन्न अल्प शक्तिमत्वात इत्यादि अनुमान से सिद्ध करते हैं युक्ति आभास है वास्तव में युक्ति नहीं हो युक्ति का आभास है युक्ति के आभास के द्वारा तैर भेद कल्पना देखते थे तो उन्होंने भेद की कल्पना की है जीव ईश्वर परमात्मा अनुमान के बल पर युक्ति के आवास वास्तव में हेतु आभास है सब किंच और भी बात आत्मना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते वृत्तारण पुरुष से कहा आत्मज्योति से ही रहता अपने प्रकाश से ही रहता दूसरे प्रकाश से नहीं स्वप्न में ऐसा कहा किंतु आत्मना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते ये आत्मा अपने ज्योति से ही बैठा हुआ होता है और अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू ऐसा कहा यही आत्मा ब्रह्म है और ये आत्मा सर्वानुभू है सर्व रूपी है अनुभव रूपी है सबको अनुभव करने वाला ऐसा नहीं परिकार कहते हैं सर्वानुभू का अनुभवनम अनुभू या अनुभू शब्द का अर्थ अनुभवन अनुभव सर्वस्व असव अनुभव अनुभूश्च सभी हो सब हो और अनुभव हो सर्वानुभव सर्वात्मक हो ज्ञानात्मक से अर्थ सर्वरूप है आत्मा और ज्ञान रूप है सर्वानुभूत अर्थ ऐसा होगा है और भी स्मृति बोलते प्रज्ञान घने आत्मा तो कहा ज्ञान रूपी है वो ज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं आत्मा भेद है ही नहीं आत्मा एक ही है प्रज्ञान घन है प्रज्ञानी है वो इत्यादि स्मृति यह आत्मा नित्य दृष्टि रूपत्व इत्यादि स्थिति इसी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य ज्ञान वाला है नित्य दृष्टि वाला है ऐसी होने से आत्मनश्च सर्वा प्रजा यत्र एकम भवन ज्ञान आत्मा को क्या बताया सारी प्रजाएं जिसमें एक हो जाते हैं सुसुप्त आदि काल में दिखाया है प्रलय काल में दिखाया दृष्टांत से सारी प्रजा एक, एक हो जाती है कल्पित वस्तु अधिष्ठान में एक होना है आत्मनश्च जो आत्मा में सर्वा प्रजा यत्र एकम भवंती इत्यादि सर्व कल्पना तन्मात्र सारी कल्पना आत्ममात्र ही दिखाया तन्मात्रत्व ना आत्ममात्रत्व सारी कल्पना आत्ममात्र होने से तद व्यतिरिक अभाव होते हैं उससे आत्मा से अतिरिक्त रूप से वस्तु का अभाव रहने से विशेषत्वात निर्विशेषत्वात निर्विशेष हो जाता है तद रूपाया भी दृष्टि आत्मा निर्विशेष हो जाता है नष्ट निर्विशेषत्व वहां लाके हमने करना आत्मा निर्विशेष होने से तद उपाय दृष्टि है जो निर्विशेष आत्मा को विषय करने वाली जो दृष्टि होगी वो दृष्टि आत्मस्वरूप जो दृष्टि होगी निर्विशेषत्व वो भी निर्विशेष ही होगी दृष्टि तस्या तस्याम अस्थि इत्यादि सर्वाकल्पना भ्रांति होगा उस दृष्टि में निर्विशेष दृष्टि में आत्मा निर्विशेष आत्मस्वरूप जो निर्विशेष दृष्टि है उसमें सारी कल्पना करना अस्थि नास्ती आदि की भ्रांति हो है उसमें अस्थि नास्ति हो नहीं सकता तथा अस्थि इत्यादि कहा भाष्य में कहा था तथा अस्थि नास्ति इत्याद्याश्च यावम तो बाण मनुष्य यह तो एक अस्थि नास्ती आदि जितने वाणी और मन का विषय बना रहे लोग जिसमें जाके एक हो जाते सब ऐसा है उसको विषय करने वाली जो नित्य दृष्टि होगी उस आत्मा को विषय करने वाली दृष्टि ये सारी एक कल्पना है ठीक है कहते हैं यावंतो बाघ भेदा नाम विशेषा यावंतो बांग मनसो और भेदा में बांग भेदा मनसो मनस भेदा ऐसा होगा यावंतो बाघ भेदा मैंने नाम विशेषा नाम रूप दो ही तो वस्तु होता है और क्या होता है नाम और रूप नाम भेद माने बाघ भेद माने नाम विशेष मनसो भेदा माने रूप विशेष मनसो भेदा मनसो भेदा का अर्थ रूप विशेष आकृति विशेष ये दो यत्र ही एकम अवधि सत्य सब जिस आत्मा में एक होते हैं माने जहां भी हम कुछ भी कल्पना करते हैं तो दो की कल्पना करते हैं नाम और रूप एक आकार की और एक नाम दे देते हैं वो निर्विशेष में कल्पना है अधिष्ठान निर्विशेष ही होता है रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं वास्तव में रज्जु में नहीं रज्जु अवच्छिन्न चेतन में कल्पना करते हैं चेतन में कल्पना सकते तो जितने भी वाणी के बाल वेद नाम विशेष शब्द विशेष जितने भी हैं अथवा मनुष्य वेदा मन रूप विशेष आकार विशेष जितने भी हैं रूप विशेष है नाम रूप यही संसार होता है यत्र ही भवन जिस आत्मा में एक हो जाते हैं सर्वे वेदा यत्र एकम भवन और सारे वेद भी जिस आत्मा में एक हो जाते हैं और सर्व प्रजा यत्र एकम भवती सारी ये प्रजाएं प्रकृष्ट न थे की प्रजा चौरासी लाख होनी है जितने भी सब प्रजा है ये सारी प्रजाएं यत्र एक भवती जिस आत्मा में एक हो जाते हैं इत्यादि श्रुते है ऐसी श्रुति वहीं से तद विषय आया तत्स्वरूप आया उस आत्मा को विषय करने वाली माने उस तत्स्वरूप आत्मस्वरूप जो दृष्टि है अतएव नित्य आया आत्मस्वरूप होने से दृष्टि भी नित्य है अतएव नित्य आया निर्विशेष आया जो निर्विशेष दृष्टि है उसकी दृष्टि अस्थि इत्यादि कल्पना आस्तिका उसी दृष्टि में सारी कल्पना होती है आस्तिक लोग कहते हैं आत्मा है कल्पना करते हैं और दूसरे नास्तिक की कल्पना शून्यवादी ना शून्यवादी लोग बोलते हैं आत्मा नहीं है कुछ नहीं है बौद्धादि बोलते हैं अस्थि नास्ति की कल्पना दिगंबराणा कुछ रूप से होता है कुछ रूप से नहीं होता है देखो ये व्यक्ति जो दिखाई पड़ता है मनुष्यत्व नहीं घटक पशुत्व नहीं है ये नहीं है पशु रूप से नहीं है मनुष्य रूप से कुछ रूप से होता है कुछ रूप से नहीं होता वस्तु अस्थि नास्ति दोनों आई है आए भी है नहीं भी है पशु रूप से नहीं है मनुष्य रूप से हर वस्तु में ऐसा हो जाएगा जिस रूप में है रूपांतर से नहीं है वो ऐसा हो जाता है तो ये कहा अस्थि नास्ति कल्पना दिगंबराण दिगंबराणाम केनचित रूपेण अस्थि केनचित रूपेण तो नास्ती एवं श्यादवादी नाम जो श्यादवाद है कुछ रूप से वस्तु होता है रूपांतर से नहीं होता हर वस्तु ऐसी स्थिति है या जो बैठे हैं मनुष्यत्व यहाँ बैठे हैं मनुष्य रूप से है पशु रूप से नहीं है ये ऐसा हो जाता है हर वस्तु में ऐसे दिखाते हैं अस्थि नास्ति अन्य शाम तो यथा एथम सावयत्वादि कला अन्य लोगों की है कोई एक बोलता है कोई अनेक बोलता है सावय बोलता है निर्वय बोलता है कल्पना करते हैं सारी को सा सर्वादि भ्रांति निमित्त आयु है तो सा सर्वादि कल्पना भ्रांति निमित्त आयु है भ्रांति के कारण आत्मा में वास्तव में जब मन वाणी का विषय नहीं होना एकत्व अनेकत्व कुछ भी होना संभव नहीं शून्यत्व तो कुछ होना संभव नहीं जब मन वाणी का विषय आत्मा नहीं है उसमें एकत्व अनेकत्व सावय निर्वय बोलना कुछ भी नहीं बनता जब मन वाणी का विषय नहीं है जहां कहां से बोलना जो बोला जा रहा है सब कल्पना है ठीक है नु तेते तार्किका आत्मनो अस्तित्वादि तर्केण कि कहते महाराज वो जो तार्किक लोग हैं सांख्य लोग हैं चाहे जो भी हैं आत्मा की सिद्धि करते हैं आत्मा है करके तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं सब नैयायिक वैशेषिक आदि नानु तेते तार्किका तर्क कुशल लोग आत्मलोग जो आत्मा को अस्तित्व आदि आत्मा में जो अस्तित्व नास्तित्व है अस्तित्वादी धर्मों का आत्मनिष्ठ जो अस्तित्वादी धर्म धर्मों का तर्क साथ है तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं और तो न तेषा भ्रांति निमित्तत्व इसलिए वो जो अस्तित्वादी के विषय में भ्रांति निमित्तक नहीं है कार्य को युक्ति से सिद्ध करते हैं अस्तित्व और अस्तित्व आदि अपना तो युक्ति देते हैं सब इसलिए अस्तित्व आदि में भ्रांति करना ठीक नहीं अतो न तेषाम तेषाम माने अस्तित्व आदि नाम जो अस्तित्व आदि है उनको भ्रांति करना ठीक नहीं तार्किकों ने सिद्ध किया है तर्क के माध्यम से श्रुति विरुद्ध यदि हाँ, आशंका ऐसा पूर्वादि की शंका हो गई तो सिद्धांत कहते हैं श्रुति विरुद्ध श्रुति कहते हैं असंग है और वो कहते हैं संग बनाते हैं अस्तित्व नास्तित्व लगाना चाहते हैं आत्मा श्रुति विरुद्ध श्रुति के विरुद्ध है अस्थि नास्ति आदि कहना आत्मा को श्रुति विरुद्ध असंगे आत्मनि जो असंग आत्मा है उसमें अनुपत्य है उसमें अस्तित्व नास्तित्व एकत्व अनेकत्व सगुणत्व अगुणत्व कुछ भी होना संभव नहीं है असंग है कुछ भी रहेगा नहीं असंग नहीं अनुपत्य है सारी कल्पना है वास्तव में हो नहीं सकता है तेषा कल्पना सत्य उनकी कल्पना के रहने पर तेषा तार्किकाणाम कल्पनाणाम उन तार्किकों की कल्पना के होने पर मानने पर मोक्ष अनुपत्य से मोक्ष होगा ही नहीं फिर निर्विशेष अवस्था मिलना ही नहीं सविशेष बनेगा आत्मा तब तक धर्म विशेष होगा अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्म विशेष लगा करके सविशेष हो जाएगा निर्विशेष सत्व होगा मोक्ष अनुपत्य मोक्ष नहीं हो पाएंगे मोक्ष की सिद्धि नहीं तेषाम तार्किकाणाम कल्पना न प्रमाण प्रथम आरोप इसलिए उन तार्किकों की जितनी कल्पना है प्रमाण मार्ग को सिद्ध नहीं कर सकता कल्पना ही हो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता प्रमाण पद माने प्रमाण से सिद्ध नहीं पाएगा प्रमाण पद को विषय नहीं बना सकता एक अस्थि नास्ति इत्यादि राशि ने कहा अस्थि नास्ति एकम नाना इत्यादि कल्पना लोग करते हैं कोई कहते हैं आत्मा है कोई कहते हैं नहीं है कोई कहते एक है कोई कहते हैं नाना अनेक है गुणवद बोलते हैं गुण वाला है कोई लोग बोलते हैं नहीं आई कोई से तो चौदह गुण माना है आत्मा का चौदह गुण गुणवत कोई कहे अगुण निर्गुण सांख्य लोग बोल देंगे अगुण निर्गुण है बोलेंगे जानाती न जानाती स्वप्न में जागृत में जानता है सुसुप्त में नहीं जानता है ऐसे भी बोलते हैं जानता भी है नहीं भी जानता है सुसुप्त में नहीं जानता इसमें जानता है ऐसा बोलते हैं क्रियावत क्रियाशील मानते हैं कुछ लोग आत्मा को कुछ लोग अक्रिय मानते हैं कुछ लोग माने परलोक आदि जाता है बोलते हैं कुछ लोग क्रियाशील मानते हैं कुछ लोग नहीं जाता है मानते हैं अक्रिय मानते हैं फल फल वाला मानते हैं फल साहब यहां जाके फल भोगेगा ऐसा मानते हैं कुछ लोग उसका तो कोई फल नहीं भोगता बोलते अफल माने सबीजम निर्बीजम आगे फल भोगने का बीज साथ लेकर के जाता है कर्म वासना संस्कार कोई ऐसा मानते हैं कोई बोलते नहीं कुछ नहीं ले जाता सुखम सुख रूप है दुखम सुखाभाव रूप है इत्यादि मध्य परिमाण वाला है अमध्य परिमाण वाला इत्यादि कोई बोलते हैं शरीर जितना बड़ा आत्मा उतना ही बड़ा है कोई बोलते हैं नहीं नहीं शरीर को लेकर काम नहीं चलेगा ठीक है मैं बताऊंगे सर शून्यम और शून्यम किसी ने शून्य कहा आत्मा को कोई कहते नहीं शून्य नहीं हो सकता और परो अहम अन्य ही अहम अन्य सब पर मैं अन्य हूं वह आत्मा अलग है ऐसा कुछ लोगों को मान्यता है जीव की ईश समान मैं अलग हूं आत्मा अलग कुछ लोगों को मानता है ये सब के सब विकल्पना सर्व वाक प्रत्यय गोचर स्वरूप वाणी का विषय न बनने वाला जो स्वरूप है आत्मस्वरूप वाक प्रत्यय अगोचर स्वरूप वाणी का विषय नहीं हो सकता तो आत्मा उसने वाणी का विषय बना के बोल रहे हैं सारे अस्थि नास्ति आदि कल्पना स्वरूप जो विकल्प ही तो इच्छती जो व्यक्ति उस आत्मा को यहाँ विकल्प करना चाहता है एक अनेक अगुण सगुण क्रियावत हाँ, अक्रिय क्रियावत अक्रियम इत्यादि जो भी कल्पना करना चाहता है तो ये विकल्प में क्षति सनूनम अपनी बहुत साहसी हो योग नूनम अवश्य ही खम अपनी चारवत वेस्टन जैसे चमड़ी को लपेटा जाता है उसी प्रकार आकाश को भी लपेटने की इच्छा करता है तो आत्मा में जो गुणा आदि रखना चाहता है माने वाणी का जो विषय नहीं है उसमें जो वाणी का विषय बनाता है कर्ता आदि लगाता है कर्तृत्व आदि फलवत अफलवत मध्य परिमाण अणुपरिमाण आदि जो भी मानता हो सब एक आकाश को लपेटने की तरह कर करता है अथवा सोपान विरुद्ध परिमाण आरोप उसी आकाश में जैसे सीढ़ी में चढ़ता है वैसे आकाश में चढ़ने की साहस करता है जैसे सीढ़ी में आराम से ऊपर जाता है इस प्रकार आकाश में सीढ़ी के समान चल चल कर ऊपर जाना चाहता है ऐसा साहस करता है आत्मा में जो विकल्प करना चाहता है जो वाणी का विषय नहीं है और वाणी का विषय बना करके सारी कल्पना करता हो करने की इच्छा रखता हो तो इतना साहसी हो असंभव है अथवा जले खेत मीना नाम वयसाम से तुम दिल से अथवा जल में मछली के पद चिन्ह देखना चाहता है ये समझो असंभव इसी प्रकार वयसाम च और पक्षियों का खे पद पदम निरीक्षक है पक्षियों का पद चिन्ह देखना चाहता है आकाश में किंतु असंभव है माने जो माने ये दृष्टांत हो गया क्यों आत्मा वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी का विषय बनाना जो चाहता हो एक अनेकादि बोल करके क्यों श्रुति तो बोलती है नेति नेति आत्मा का पहचान कोई विधि मुख से है ही नहीं एक अनेक रूप से होता नहीं इतर निषेध मुख से ही करती है श्रुति हाँ, मुख्य आत्मा की पहचान ऐसा ही है अतर व्यावृत्ति तद भिन्न की व्यावृत्ति का उसका पहचान स्वतः हो जाता मूल अनेक होता नेति नेति श्रुति तो ही बोलती है ना इति ना इति जो विशेष जितने का निषेध करने के बाद जो बचेगा वो अपना आत्मा घोषित हो जाएगा उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती इतर व्यावृत्ति के माध्यम से परिचय करा दे सकते आत्मा की परिचय इस तरह से है एक अनेक करके अस्थि नास्ती करके आत्मा को परिचय नहीं हो सकता सारी कल्पना आई और ये तो बात निवर्तन कहा जिससे सारी मन वाणी लौट जाते हैं वो वो आत्मा होता है हाँ, माने मन और वाणी जिसको विषय नहीं कर पा रहे और आप वाणी का विषय बना रहे एक अनेक करके इसलिए आपकी कल्पना है ये तो हुआ से निकलना चाहिए यानी इधर व्यावृत्ति के माध्यम से ही आत्मा का पहचान होना है विधि मुख से नहीं विषय मुख से ही होना है और भी कहा को अध्यावे रहा साक्षात उस आत्मा को कौन जान सकता है ऐसा कहा इत्यादि मंत्र इत्यादि मंत्रों ने ऐसा कहा है ये कहा ठीक समझ सुसुप्त न जानाती अन्यत्र जानाती भी कादाचित का कादाचित का ज्ञानवत्व कल्पना वैशेषिक जानाती न जानाती ये कल्पना वैशेषिक आदि का है नैयायिक वैशेषिक क्यों सुसुप्त में आत्मा नहीं जानता है यदि ज्ञान का लोक नहीं है वहां भी विषय का अभाव से वहां ऐसा दिखता है क्योंकि उसको ख्याल नहीं आता सुसुप्त न जानाती अज्ञानी होता है आत्मा सुसुप्ति काल नहीं जानता अन्यत्र माने जागृत स्वप्न में जानता है विषय होता है जानता है अन्यत्र जाना भी इति कादाचित का ज्ञानवत्व तो कल्पना ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है हमेशा ज्ञान नहीं ज्ञानवान नहीं है ज्ञान स्वरूप नहीं ज्ञानवान है आत्मा ज्ञान वाला है ज्ञान कभी होता है कभी नहीं होता है ऐसा ऐसी कल्पना करते हैं वैशेषिक नैया के आदि लोग उनकी कल्पना है आत्मा परलोकम गच्छति इति क्रियावत्व कल्पना आत्मा लोग यहां ये शरीर छोड़कर के परलोक जाता है आत्मा जाता है माने क्रियाशील है ऐसा कुछ लोगों की कल्पना है आत्मा के बारे में यह वह स्थित तो शरीरांतरम गृहती अर्थ है कुछ लोग बोलते मैंने आत्मा को जाना नहीं पड़ता आत्मा यही रह करके ये शरीर छोड़ता दूसरा शरीर यहीं बैठ के पकड़ता है जाता नहीं आत्मा क्रियाशील नहीं है अन्य लोगों की कल्पना है कुछ लोग बोलते हैं परलोक जाता है कोई कहते हैं नहीं जो प्राप्तव्य शरीर होगा इसको छोड़ेगा उसको यही प्राप्त करेगा आत्मा जाता है ऐसी कल्पना करते हैं उसको यही वस्तित्व पर लोग गए बिना यही रह कर शरीरांतर में ग्रहणाते अन्य शरीर को ग्रहण कर देता पूर्व शरीर त्याग कर तो शरीर ग्रहण कर देता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं उनके मत में अक्रिया अक्रियावध होगा देहात्मवादे क्षणिक विज्ञानवादे व अफलम परलोक स्थायी नवाद कोई अफल मानते हैं आप फल नहीं होता क्यों कहते हैं देहात्मवाद शरीर ही आत्मा है सत्यार्थवाद आदि के जो मत है देहातवाद अथवा क्षणिक विज्ञानवाद बहुतों में विज्ञानवादी बहुतों का मत में इन दोनों मतों में अफल आत्मा अफल रहेगा क्यों परलोक स्थायी आत्मा है ही नहीं आत्मा यही नाश होना है आत्मावादी की आत्मा यही नाश होना है तो परलोक को फल नहीं मिलना परलोक जाता ही नहीं वो अब विज्ञानवादी मत में भी विज्ञान जो पैदा हुआ यह नष्ट हो गया परलोक में जाएगा इसलिए अफल रहेगा आत्मा अन्य सम फलवत बाकी लोगों के मन तो फलशाली होगा पर उठ जाएगा देहात्म क्षण के बाद पक्षे एवं कर्म तदवासना नाम आश्रय भाव परणों के बीजम कहते हैं कुछ देहात्मवादी है अथवा क्षणिक विज्ञानवादी है दोनों के मत में कर्म तदवासना नाम आश्रय भाव जो कर्म को लेकर के जाता है या संस्कार को लेकर के जाता है आत्मा परलोक जाते समय उनके यहां उसके आश्रय है ही नहीं आत्मा में रहना था आत्मा है ही नहीं संस्कार किस में रहेगा मैंने देहा देह ही समाप्त हो गया और संस्कार कहाँ बैठेगा लोग भोगने जाने के लिए और कर्म जो किया है ये शरीर ने किया था यही नाश हो गया शरीर तो उसका आश्रय है ही नहीं कर्म का आश्रय भी नहीं अथवा कर्म के संस्कार का आश्रय भी नहीं कहाँ बैठना है वो तो शरीर तो यही नष्ट हो गया विज्ञान भी यही नष्ट हो गया उनके क्षण विज्ञान वाले का इसी कारण से अभव रहेगा अच्छा यहां क्षणिक वादी पक्ष उसी पक्ष में दूसरा दोष है कर्म तद वासना नाम आश्रय भाव कर्म मानो चाहे उसे संस्कार मानो वासना संस्कार दोनों का आश्रय नहीं रहा जो क्षणिक विज्ञान था यही नष्ट हो गया जो देहापवाद देह यही नष्ट हो गया आश्रय रहा नहीं इसलिए परलोक के निर्बीज दूसरे शरीर में निर्विज बिना बीज का होगा आत्मा निर्विजम देता टिप्पणी पांच की निर्विजम के जननीय बीजा भाव परलोक पैदा करना दूसरे शरीर पैदा करने के बीज नहीं मिलेगा कर्म संस्कार के बल से होना था कर्म भी नहीं वो आश्रय नहीं तो कर्म जा नहीं पाया परलोक में अथवा क्षणिक विज्ञानवादी मत में भी क्षणिक विज्ञान यही नष्ट हो गया परलोक जा नहीं सकता इसलिए संस्कार जा नहीं पाए अथवा बीजा बीजा बीजा भाव बदवा आत्मस्वरूप उनका यहां अथवा दूसरा मत मानो आत्मस्वरूप बीज के अभाव वाला हो जाएगा बीज में तो फिर फल नहीं दे पाएगा स्थिति आएगी इसलिए निर्बीज माना जाएगा उनके नित्य आत्मवादी हम समझे आत्मा को जो नित्य मानने वाले पक्ष में बीज रहेगा कर्म वासना का आश्रय मिल जाता है अपने संस्कार को लेकर के जाएगा आगे सभी फल मिलेगा उसको सभी जो होगा दुखम अशुभ रूपम वैसे का बारे दुख को एक अभाव रूप मानते हैं नैयायिक वैशेषिक सुख के अभाव तो दुख सुखाभाव को दुख मानना है दुखम असुख रूपम जो सुख नहीं है उसको दुख मानना है दुखाभाव रूप है अभाव रूप होता है दुख ऐसा मानना अच्छा। यदवा अथवा विज्ञानवादे स्वप्लव स्वप्लव चित्त संतति रूप से संसारिण हेतु अहंकारा दुख रूप तुम आत्मा आत्मा दुख रूप है उनके यहां विज्ञानवादी के मत वो चित्त ही आत्मा है विज्ञानी आत्मा है वो विज्ञान को स्वप्लव चित्त संतत रूप से तो चित्त की धारा चलनी है विज्ञान की धारा चलनी है विपत्ति के साथ है वो अकेला धारा नहीं विषय आएगा विषयकार बनेगा वो विपत्ति है सब माने विपत्ति पप्लव शब्द का विपत्ति सहित जो चित्त की संतति रूप है धारा है विज्ञान की धारा है इदम इदम इदम इदम तो धारा चल रही है अहम अहम धारा चल रही है संसारी लोग यही संसारी है संसारण करने वाला यही धारा एक विज्ञान नाश हुआ दूसरा विज्ञान आया विपत्ति के साथ है वो तो उपप्लव चित्त संपत्ति से जो तो विपत्ति के सहित चित्त के जो संतान है विज्ञान की धारा है उसके संसार में ये संसार यह है तो, उसको यह माना है तो अंगीकार अंगीकार करने से माने जो प्रवृत्ति विज्ञान को इन्होंने ऐसा माना हुआ है जगत तो स्वीकार किया इसलिए दुख रूपत्म आत्मा आत्मा दुख रूप उनका मतलब और मध्यम कहते हैं कोई लोग मध्यम परिमाण वाला मानते हैं शरीर मध्य एवं वर्तते इति दिगंबराणा मते मध्यम आत्मा तो मध्यम परिमाण वाला है परिमाण को लेकर के कल्पना है लोगों की दिगंबर जैनी लोग उनके मत में क्या होता है मध्यम परिमाण का आत्मा जिस शरीर में जाएगा उतने शरीर भर का होता है अब ये मत सही होता है कि नहीं होता परिमाण को लेकर के क्या होता है जैसे इनके मत में देखो पहले मच्छर के रूप में आत्मा था कर्मफल होगा उसमें उसका कितना छोटा सा आत्मा अब उसको हाथी के शरीर में जाना पड़ेगा तो किसी एक कोने में बैठेगा वो पूरे शरीर में व्याप्त नहीं हो पाएगा अथवा हाथी के शरीर भोग करके मच्छर के शरीर में आने वाला जो आत्मा होगा कर्म का फल है भोगने आएगा तो वो क्या होगा जरा आशा भीतर बैठेगा बाकी बाहर रहना पड़ेगा लटकेगा बाहर मध्य परिमाणी वादी के मत में स्थिति है लड़ने वाला नहीं अन्य शाम तो तद बहिरवी अस्थिति अबाध्यम अन्य लोगों के मत में नहीं केवल शरीर के भीतर ही आत्मा नहीं बाहर भी है मध्यम परिमाण नहीं है ऐसा मान परो अहम इति परो अहम ये जो भाष्य की पंक्ति की है परो अहम इसके प्रतीक है मत परो अयम मेरे से वो पर है भिन्न है आत्मा परमात्मा और अहम तत्व अन्य मैं परमात्मा से भिन्न हूं ये परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं अन्य इति प्रत्यक पराग भेदादि कल्पना एक प्रत्येक मानना मैं मानना और एक को पराग बाहर मानना दूसरा मानना ये वेद की कल्पना अस्तित्व अस्थि इत्याद्य जो अस्थि से लेकर के परो अयम अहम अन्य इत्यंत अस्थि अनास्थि से लेकर के परो अयम अहम अन्य यहां तक की जो कल्पना है लोगों की कल्पना बात प्रत्ययागोचर है जहां पर वाणी का विषय नहीं हो सकता ऐसे आत्मा में कल्पना कर रहे हैं सारे वाणी का विषय बना रहे सब अस्थि नास्ती आदि बात प्रत्यय अगोचरे बान मनसा गोचरे वाणी का विषय नहीं होना वाणी और मन का दोनों का विषय नहीं है तो बात निवर्तन से अपराध मनसाशा है माने मन वाणी अपने विषय को घेरने के लिए जाते हैं जिसको घेर नहीं पाते वापस होना पड़ता है ऐसे बाण मनस अगोचरे वाणी और मन का जो विषय नहीं होता है ऐसे आत्मा में कोई विकल्प है तो इच्छा अस्थि नास्ति आदि जो विकल्प करना चाहता है जो व्यक्ति है आदि कल्पना विकल्प को रखना चाहता है अस्थि रूपेणा नास्ती रूपेणा आदि आदि रूप से चाहता है हम तो ऐसा रखना तो उसके लिए क्या होगा सगुणम खम अति चर्म में दृष्टि देखेगा अवश्य ही गुण अवश्य ही वो चमड़ी के समान आकाश को लपेटने की साहस करता है जैसे चमड़ी लपेटी जाती है चटाई लपेटी जाए उसी प्रकार आकाश को लपेटना चाहता है आकाश माने खोखलापना इसको लपेटने की साहस करता है तो, अथवा दूसरा था सोपान में आरोहण कहा था आकाश में ही सीढ़ी के समान चढ़ना चाहता होगा असंभव सीढ़ी सावध वस्तु है आकाश में चढ़ना चाहता है आत्मा में जो विकल्प मन वाणी का विषय नहीं है और वाणी का विषय बना रहा है जो इतना साहस कर रहा होगा आरोड़म इत्यत्र खम इति अनुसंग आरोड़म इच्छति में पदव्याम आरोड़ में खम लगाना कहां आरूढ़ होना चाहता है आकाश में आकाश में चढ़ना चाहता है जैसे सूर्य से छत में जाता है उस प्रकार जैसे खोखला पना में ऊपर सीढ़ी के समान पैर रख के जाना चाहता ऐसी साहस है क्यों वाणी का विषय नहीं जो आत्मा उसे वाणी का विषय बनाने चाह रहा अस्थि नास्ति आदि और जले खेच मीना नाम वयसांत दृश्य ही भाषण रहा था पानी में मछली के पैर देखना चाहता है पतचिन्ह देखना चाहता है अथवा आकाश में पक्षी का पतचिन्ह देखना चाहता है असंभव इसी प्रकार आत्मा को वाणी का विषय बनाना ऐसा संभव है आत्मा वाणी मन वाणी का विषय नहीं है मन वाणी को भी विषय करने वाला आत्मा को मन वाणी कैसे विषय करता है ये जो काष्ठ अग्नि से जलती हो काष्ट लकड़ी वो लकड़ी अग्नि को क्या जलाएगी जो काष्ट शस्त्र से कट जाता हो छेदन हो जाता हो वो काष्ट शस्त्र को काट सकता है क्या तो जो आत्मा से देखे जाते हैं वो आत्मा को देख पाएंगे जान पाएंगे नहीं पाएंगे ठीक है ठीक है जले मीना नाम छे जले मीना नाम जल में मछली का पदचिन्ह देखना चाहना और खे बैसाम और आकाश में पक्षियों का पति में देखना चाहता हूं न तो साहस करता है कहा ऐसा करने का बांग मेरा वेदा ने न संति बाणी और मन के जितने भी विषय है आत्मा में नहीं है वाणी और मन मन के भेद विषय आत्मा ने न संति तद अगोचर से आत्मा ये दोनों का विषय नहीं नहीं होता वाणी और मन जितने को विषय बनाते हैं आत्मा में नहीं है और मनवाणी का विषय नहीं है आत्मा अलोक आत्मा इत्यत्र क्रमेण श्रुति द्वयम दो श्रुति देते क्रम से एक तो मनवाणी वहां नहीं होते हैं दूसरी बात मनवाणी का विषय वहां नहीं होते इसलिए दो श्रुति देते हैं वेति वेति करके कहा वाणी और मन से जिन जिनको कहा जाता है उनको एक न से वाणी के निषेध कर देना वाणी के विषय का एक से मन का निषेध कर देना तो कुछ नहीं बचेगा दीक्षा है जितने भी विशेष हो रहा है जो वाणी और मन से मन से सोचना या वाणी से बोलना वो आत्मा नहीं बोला विशेष किया देती देती के द्वारा बांग मनसो फेरा वाणी और मन के विषय को निषेध किया और तब को तो अगोचर से आत्मा दूसरे बोलते हैं मन वाणी का विषय भी नहीं आत्मा ठीक है दूसरा वाला कहा तदगोचर से आत्मा इतर कांचना बांग मनसा गोचरे श्रुत्यंतरम आह वाणी और मन का अगोचर होता आत्मा अविषय होता है इसमें अन्य श्रुति भी प्रमाण देते हैं कहा को अद्धा वेद इत्यादि कहा अद्धा माने साक्षात को वेद साक्षात उस आत्मा को कौन जान सके न मन जान सके न बुद्धि जान सके न कुछ भी जान सके को तो वेद मनोगोचरत्व मन का विषयत्व कई है प्रवोचक हाँ, कौन इस विषय में कहेगा ऐसा इति बाग गोचरत्व के विषय माने साक्षात को वेद करके मन के विषय को निषेध किया है और कई है प्रबोधक कौन बोल सकता है इसको आत्मा माने वाणी का विषय निषेध किया है वो तो अद्धा साक्षात को वेद अद्धा साक्षात को वेद से मनोविषयत्व का निषेध किया और कई है प्रवचन कौन बोलेगा इस विषय में माने वाणी बोलने वाली इस विषय में नहीं बोल सकती वाणी बागी को बोलेगी आत्मा को नहीं बोल सकती बाघ विषय भी निषेध किया है बाघ बोलता निषेध देखा कर आगे टीका भी कहते हैं बांग मनसा गोचर तो श्रवण मनोनय और असंभवात आत्मनो असंभव यदि वाणी और मन का विषय आत्मा यदि नहीं होता है तो श्रवण भी नहीं होगा किसी की वाणी के द्वारा तो सुनना होगा ना और मनन भी नहीं कर पाएगा मन का विषय है ही नहीं तो आत्मज्ञान के साथ नहीं बताए श्रवण मनन बताया उदाहरण और आप कहते हैं मन वाणी का विषय नहीं है वाणी का विषय है तो श्रवण नहीं हो पाएगा दूसरा सुनाएगा कोई नहीं तो कहां से ये करेगा और बाण मनसा गोचरत्व वाणी और मन के अगोचर होने पर अभिषय होने पर श्रवण मनय और असंभव श्रवण मनन होना संभव नहीं होगा आत्मा में इसलिए आत्मनोवेदनम वेदनम संभव तब तो आत्मा का ज्ञान संभव नहीं आत्मज्ञान होगा ही नहीं फिर आत्मज्ञान के लिए कोई साधन करना चाहता है तो पूर्वाधिक शंका होगी शंका एक पूर्वाधिक शंका करता है कथम तही तस्य समय आत्मा यदि वेदनम ब्रूही दो विकल्प किया था पहले इसको इसको लेकर के अब समय आत्मा इसके बारे में बोलना चाहते हैं ये दृष्टा श्रोता मन था उसका अर्थ हो गया आपका और समय आत्मा उसका अर्थ करते हैं कथम तर ही तस्य समय आत्मा वेदनम फिर ये समय आत्मा ऐसा वेदन कैसे होगा वो मेरी आत्मा है ऐसा ज्ञान कैसे होगा जब मन वाणी का विषय नहीं है तो कैसे समझे मन से जानना था वाणी से सुन बोल करके सुनना था दोनों नहीं है तो फिर वो मेरी आत्मा है ऐसा ज्ञान कैसे होगा साधन गुरु ही के न प्रकार तम हम समय आत्मा एक विद्या फिर पक्ष फिर बोलता है आप बोलो गुरु के न प्रकार किस प्रकार से तम हम उस आत्मा को मैं सब मैं आत्मा इति ज्ञान वो मेरी आत्मा है ऐसा मैं समझू जानू क्या प्रकार क्या है इसमें क्या प्रकार है इसमें ऐसा पूर्वाजी साथ जब आत्मा जानने के दो ही साधन से मनवाणी बनवाणी का विषय नहीं बना उस स्थिति में फिर समय आत्मा विद्या श्रुति बोल रही है वो मेरी आत्मा ऐसा जाने तो कैसे जाने जानने के साधन को तो निषेध हो गया मनवाणी को कैसे जानू गुरु के न प्रकार का तम हम समय आत्मा विद्याम फिर मैं किस प्रकार से वो मेरी आत्मा ऐसा समझू ऐसा पूछा तो सिद्धांत बोलते हैं अत्र आख्यायिका आज एक कहानी से समझाते हैं कोई व्यक्ति है कश्चित किला मनुष्य बुद्धा कोई व्यक्ति मुग्ध है पागल हो रखा है भ्रांत है ऐसा भ्रांत व्यक्ति है कोई पागल हो रखा है कश्चित केवल मनुष्य कोई मनुष्य है मुग्ध है कैश्चित उक्त कश्चित अपराध थे कुछ अपराध हो गया उस व्यक्ति कुछ अपराध होने पर किसी व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया उसको क्या बोल दिया नाशी तुम मनुष्य नाशी मनुष्य की तुम तो मनुष्य नहीं हो ऐसा बोल दिया उस भ्रांत पुरुष से कुछ अपराध हो गया तो दूसरे ने बोल दिया तू मनुष्य नहीं है ऐसा कह दिया इतना कहने पर सब मुग्धतया वो भ्रांत होने की वजह से क्या होता है आत्मनो मनुष्यत्व प्रत्याय अपना मनुष्यत्व को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि किस अपराध उसे हो गया था तो दूसरे ने गुस्से में बोल दिया तू मनुष्य नहीं है ऐसा बोल दिया है ऐसे भ्रांत होने के कारण अगर भ्रांत नहीं होता तो समझ जाता मैं मनुष्य हूं मैं मनुष्य समझता क्योंकि भ्रांत है वो भ्रांत होने से समूर्खतया वो भ्रांत होने से आत्मन मनुष्यत्व अपना जो मनुष्यत्व बना है प्रत्यय निश्चय कराने के लिए निश्चय कराने के लिए कंचित उपेत्या किसी एक विशेष व्यक्ति का जाकर के कहता है द्रवितु भगवान को हम अस्मि आप बोलिए प्रभो मैं कौन हूं ऐसा किसी व्यक्ति के पास जाकर के पूछता है सब तस्य मोतताम ज्ञातवा जो सामने वाला व्यक्ति समझा ये मनुष्य होकर के मैं कौन हूं ऐसा पूछ रहा है इसके मतलब कुछ गड़बड़ है प्राण का है ऐसा समझ गया वो व्यक्ति सब तस्य मोदताम ज्ञातवा वो जो सामने वाला व्यक्ति था जिसके पास जाकर उसने पूछा था मैं कौन हूं वो व्यक्ति ने उसके बुद्धता तो को जान करके कहा करता है वो क्रमेण बोधेश्याम इसमें क्रम से ज्ञान कराना पड़ेगा एक साथ बोले से क्यों पागल है समझेगा नहीं ऐसा सोच करके थावरादि आत्मभाव अपैया थावरादि को निषेध करें ये तुम नहीं हो ये तुम नहीं हो ये तुम नहीं हो ये तुम नहीं हो जैसे थावरादि थे माने एक मनुष्य को छोड़ करके बाकी का निषेध कर दिया सब ये नहीं ये नहीं ये नहीं एक नीति लगा दिया सबका निषेध कर दिया थावरादि आत्मभाव होया थावरादि को तुम मनुष्य नहीं ये मनुष्य नहीं ये मनुष्य नहीं करके एक एक को निषेध कर दिया करके न तुम अमनुष्य उपराम आगे जाकर के इतने बोल दिया तुम अमनुष्य नहीं हो करके चुप हो गया तुम मनुष्य हो ऐसा शब्द नहीं बोला कि तुम अमनुष्य नहीं हो मनुष्य इतर नहीं हो ऐसा बोल करके उत्सुक हो न तुम अमन से उत्तर उपरदान ऐसा होकर के चुप हो गए शतम मुग्धम प्रत्याह शतम मुग्ध प्रत्याह तम उस उपदेश जो कर रहा था खाबर को विषय करके तुम अमनुष्य नहीं होकर के बैठने वाले व्यक्ति को यह बोलता मुग्ध प्रत्याह मुग्ध फिर बोल, बोलता है तम उपदेश आरंभ जो उपदेश देने वाले को मुग्ध ने कहा मुग्ध कहता है क्या बोलता है भगवान माम एकदम प्रवृत्त है कृष्ण हुआ आप मेरे लिए ज्ञान कराने के लिए तैयार थे और चुप हो गए आप मैं कौन हूं मैंने पूछा आपने उत्तर दिया ही नहीं हाँ। केवल थावर आदि निषेध कर दिया आपने अमनुष्य नहीं हो बोल दिया मैं कौन हूं मेरा प्रश्न तो जो का चोर रह गया भगवान माम बोधयुगम प्रवृत्त आप मुझे ज्ञान कराने के लिए तैयार हुए तुष्ण बभूवा आप फिर चुप हो गए क्यों न बोध है कि क्यों मुझे समझाते नहीं हुआ मैं कौन हूं मेरा प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो ऐसा बबूरा एक नंबर टिप्पणी मनुष्यत्व संदेह दोलाय मानस्य तसो मूदस्य उक्ति अदोष बहुत जगत इत्यादि कहते हैं देखो ये बबूव प्रयोग यहां कैसे बोल रहा है वो व्यक्ति अपने लिए परोक्ष नहीं होता है अलिट होता है परोक्ष परोक्ष लिट अपने लिए कभी परोक्ष बोल रहा है वो जो व्यक्ति परोक्ष नहीं होता आप चुप हो गए करके बोलने वाला व्यक्ति के लिए परोक्ष नहीं क्रिया सामने है सामने की बाणी सुनकर के बोल रहा है आप चुप हो गए ऐसे बोल रहा है अब बोल रहे हैं परोक्ष नहीं है तो अपरोक्ष में लिख लकार कैसे प्रयोग हो गए ये शंका आती है ठीक है बभुव इति टिप्पणी का आत्मा और मनुष्यत्व संदेह आत्मा में अपने मनुष्यत्व का संदेह के कारण दोलायमान है चित्त चंचल है उसकी चंचल है फिर नहीं है अच्छा। इसलिए मूदस्य चित्त चंचल होना ही वो भ्रांत है वो भ्रांत होने से इति अदोषा इसलिए दोष नहीं है जैसे लिट लकार में बहुवचन का प्रयोग उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे किया जाता है प्रश्न उठता है परोक्ष लिट है अपने लिए क्रिया कभी परोक्ष होगी नहीं अहम बबुआ कैसे बोलेगा सब बबुआ तो ठीक हो गया क्रिया परोक्ष भी तो सुनी सुनाई को बोल दिया अहम बबुआ कैसे बोलेगा नहीं हुआ तो भय हुआ तो क्रिया अपरोक्ष ही है परोक्ष का है परोक्ष कैसे लगेगा कहते हैं हो जाता है स्वप्न आदि को लेकर के हो जाता है अथवा पागलपन में बोला बोला हुआ वो माने अपरोक्ष होते हुए परोक्ष माना जाता है बहु जगत पुरस्कार तत्र भत्ता किला हम ऐसा कहा है उस समय में बहुत बड़बड़ाया उस समय में पागल था बाद में होश आने के बाद बोलता बहु जगत पुरस्कार तत्र मत्ता किला उस अवस्था में मैं मत था उन्मत्त था पागल था बहुत बड़बड़ाया तो वो अपरोक्ष होती हुई भी वो क्रिया परोक्ष मानी जाती है ऐसे अवस्थ में लिट के उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है न तो परोक्ष लिट परोक्ष में लिट होना है अपरोक्ष में नहीं होना चाहिए इसी प्रकार यहां भी मूद है हाँ, वो मुग्धता के कारण उसका चित्त दुलायमान है चंचल हो रखा है इसलिए बबूबा का प्रयोग कर दिया ये कहा तो कहा भवान माम बोधय तुम प्रवृत्त तुष्टम बबुआ किम न बोधय ऐसा कहा उसने मुझे आप ध्यान कराने के लिए तैयार हो गए थे और चुप हो गए आप क्यों ना ज्ञान कराते हो मैं कौन हूं मेरा प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हो ऐसा कहा तब तादरी गए तब भवतो वचन उसी प्रकार आपका वचन भी है आपका वचन भी है समय आत्मा कथम विद्या आपका वचन ठीक उसी पागल के समान है जो समय आत्मा विद्या कथम ये कैसे जानो बोलो जो पूछ रहे हो ठीक उस पागल के समान है तुम्हारे वचन आदरिक है उसी भ्रांत के समान ही तद वचन वो आपका वचन तो कौन कथम तरही तस्य समय आत्मा वेदम ध्रुवी के न प्रकार तम हम आत्मा विद्या आत्मा विद्या ऐसा तो प्रश्न यही है कैसे कहते वो व्यक्ति को जब नाशी अमनुष्य बोल दिया था तुम अमनुष्य नहीं हो कहने पर समझ जाना चाहिए था उसको माने मनुष्य इतर का जब निषेध कर दिया बाकी चुप हो गए तो समझ जाना चाहिए था मैं मनुष्य हूं समझना था उसको नाशी अमनुष्य इति तुम अमनुष्य नहीं हो कहने पर भी उगते भी मनुष्यत्व आत्मनो न प्रतिबद्ध थे यह जो व्यक्ति अपने को मनुष्यत्व के विषय में नहीं समझता हो इतर तो निषेध करने के बाद भी नहीं समझता हो तो अमनुष्य नहीं हो कहने पर भी अपने को नहीं समझता हो सब प्रथम मनुष्य वासी तो भी मनुष्यत्व आत्मा कर उसको तुम मनुष्य हो कहने पर भी कैसे समझेगा कि मैं मनुष्य हो करके ऐसे थी ठीक इसी प्रकार यहां भी इतर व्यावृत्ति के द्वारा श्रुति ने जो बता दिया है परिचय कराया तो इतर व्यावृत्ति से नहीं समझता हो उसके लिए क्या उपाय कोई उपाय नहीं आत्मबोध साथ आत्मबोध का साधन तो एक ही है इतर व्यापति का एक उपाय है ठीक है हमें कहते हैं तभी मास्तु आत्मवेदम इतिहास है कहा सिद्धांत की ओर से बोलते कि भाई कथम तरी समय आत्म इत्यादि कहा नहीं फिर तो ऐसा है ना आत्मवेदन न हो जब उसके विधि मुख से होना नहीं है तो आत्मज्ञान हो ही नहीं छोड़ दो ऐसा कहा तो कहते सिद्धांत करना पूर्वादि बोलता है श्रुतेर अनत संख्या श्रुति में कहा उसमें शंका उठाने की बात नहीं है जरूर कुछ न कुछ वहां युक्ति होगी पक्ष स्वयं बोल रहा है श्रुतेर अनति संख्या उसे अतिशंका नहीं होती है आत्मविद निषेधाय निषेध अयोगा आत्मज्ञान का निषेध करना संभव नहीं है श्रुति का तात्पर्य समझना पड़ेगा मैं कैसे समझू उस आत्मा को तत्र उपाय पहचान मैं उस आत्मा को जानने के लिए उपाय पूछता हूं के न प्रकार तमाम समय आत्मा ज्ञान वो मेरी आत्मा है मैं किस प्रकार से जानू टिप्पणी दो तीन दो में कहा श्रुते समय आत्मा विद्या मालिका है इत्यादि समय आत्मा इतनी वो मेरी आत्मा ऐसा जाने ऐसा श्रुति इत्यादि श्रुति को कैसे घटाएं अनंत संज्ञात्वा तो निषेधनीयार्थत्व अभाव श्रुति के बातों को निषेध करना ठीक नहीं खंडन करना ठीक नहीं है श्रुति ने जो कहा राजा क्या के समान है वो राजा जो बोल दिया बोल दिया उसमें तो बताना पड़ेगा श्रुति की बातों को इधर उधर कर नहीं सकते निषेधनीय अर्थ तो अभाव निषेध निषेधनीय अर्थ नहीं होता श्रुति का निषेध करना योग्य नहीं होता इसलिए किस उपाय से उस आत्मा को जानू ये पूर्वादी शंका की ठीक है हम कहते हैं के न प्रकार समय आत्मा विद्या तम प्रकार बुरी उनका यही कहना है किस प्रकार से मैं उस आत्मा को जानू वो प्रकार बताओ ऐसा प्रश्न आने पर सिद्धांत कहना चाहते हैं देखो नेति नेति इत्यादि श्रुति उदाहरण है ना एवं इतर निषेध है नहीं तस्य स्वप्रकाश से बोध आत्मज्ञान का उपाय एक ही है तो इतर है उनका निषेध गुजारा है आत्मा स्वयं प्रकाश है स्वतः प्रकाशित हो जाएगा इतर निषेध का प्रकार जैसे कुआ खोदने के लिए पानी को प्राप्त करने की जरूरत है पानी प्राप्त है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा वहां जब अवरोधक आए उसको डालो आप मिट्टी पत्थर डालो पानी से तो प्राप्त है उसको खोदने की आवश्यकता नहीं खोदना किसके लिए अवरोधक हटाने इतर व्यावृत्ति करने के लिए जल तो वहां है अथवा कुआ माने आकाश आकाश को कुआ कर उस आकाश को खोदना बनता नहीं है वो स्वतः प्राप्त है किंतु वहां अवरोधक बने थे मिट्टी पत्थर आदि उसको हटाने का तात्पर्य होता कुआ खोदना बने मिट्टी पत्थर हटाना आकाश को खोदना नहीं है वो स्वतः प्रकाश है स्वयं है ऐसे आत्मा है ये बोलना चाहते सिद्धांत नेति नेति इत्यादि श्रुति उदाहरण है ना नेति नेति आदि इतर व्यावृत्ति के द्वारा आत्मा का परिचय कराती है आत्मा ये है ऐसा बोलती नहीं ये नहीं ये नहीं करके बाकी का निषेध कर देती है न इति न इति कर इत्यादि श्रुति उदाहरण है ना एवं इतर निषेध है नहीं इतर का निषेध के द्वारा ही जैसे नाशी अमनुष्य कह दिया तो अमनुष्य नहीं हो बोल दिया इतने स्वयं ज्ञात हो जाता अपने इसी प्रकार तस्य स्वप्रकाश वह आत्मा स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाशित करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है वाणी आदि की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इधर व्यापति करना मात्र प्रमाण काम करेगा स्वप्रकाश से बोध उसका बोध हो जाता है यदि वेदन प्रकार से उत्तरवा वेदन प्रकार यही बताया है नीति आदि के द्वारा प्रकारांतर असंभवार अन्य प्रकार है ही नहीं इतर व्यावृत्ति से ही परिचय कराया जाता है बाकी कोई प्रकार नहीं विधि मुख से हो नहीं सकता अनेक प्रकार अभिषयतया वेदित इसी प्रकार से यही प्रकार है इतर व्यावृत्ति रूप से ही आत्मा का ज्ञान होना है अभिषय विषयत्व नहीं अविषयत्व मैं ही आत्मा हूं ऐसा ज्ञान होना है बाकी मेरी आत्मा हुआ है ऐसा ज्ञान नहीं इदम तो नहीं अहम तो है ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि यही ज्ञान विषयतया नहीं अविषयतया अहम तो न ज्ञान होना है अविषयतया वेद कभी मतवा का आसम उत्तरमा इसलिए सिद्धांति मैं आत्मा को कैसे जानू कहने वाले के लिए उपहास पूर्वक उत्तर देते हैं एक कहानी के माध्यम से इसमें से कहानी ये करके कहा अत्र आख्यायिका इत्यादि कहा अत्र आख्यायिका में आचक्षति कश्चित केवल मनुष्य मूध कोई व्यक्ति भ्रांत है कैसे उगता कश्मिश्चित अपराध उसके द्वारा कुछ अपराध होने पर किसी ने बोल दिया क्या बोला धिक तो तेरे धिकार है नाशिक तो मनुष्य नाशिक मनुष्य तुम मनुष्य नहीं है तेरे धिकार है ऐसे बोल दिया कुछ अपराध हो गया दूसरे ने ऐसा बोल दिया उतने होने पर अपने को अमनुष्य बना का बहाना आ गया उसको मनुष्य बोल दिया हाँ, मनुष्य नहीं है बोला मैं क्या हूं ऐसा समूलतया आत्मनोमनुष्यत्व प्रत्यायन पंचित प्रत्याह वो भ्रांत होने के कारण अपने मनुष्यत्व सिद्धि के लिए किसी के पास जाकर रखता है प्रविध भगवान को हम अस्में आप बताइए मैं कौन मनुष्य होता हुआ मनुष्य के बारे में पूछता है सतस्य मूर्तता व्याप्ता उसके मूर्तता को समझ करके व्यक्ति करता है क्रमेण बोधेश्याम क्रमशील को ज्ञान कराना पड़ेगा इतर व्यावृत्ति से तो मनुष्य हो बोले से समझेगा मनुष्य होता हुआ कुछ नहीं आ रहा है इसलिए क्रम इतर व्यावृत्ति से समझाना है इसको ये समझाओ उसने इसलिए थावर आदि इत्यादि का ठीक है मुग्धा माने मूढ़ा इत्यर्थ मूढ़ था वो अपराध होने पर तू धिकार है तो मनुष्य नहीं बोल दिया इतने में अपने वो मनुष्य क्या हूं मैं ऐसे माना मुग्धा है मूढ़ है मूर्ख है थावरादि विषेध करने पर कहा था तुम थावरादि ऊपर करके चुप हो गया है वो स्थावर आदि को निषेध करके ना, नासी अमनुष्यत्व ऐसा बोल दिया इतना कहने पर भी समझा नहीं तो उसको क्या मनुष्य कहने पर भी नहीं समझेगा कहा आगे शंका है ननु इतर निषेध है ना ज्ञाने भी तम एवं तम एवं भूत इति आमिदाने अहम एवं भूत इति भावा तदर्थ विधि मुखे बोधन कार्य अतः पूर्वाज बोलता है इतर निषेध के द्वारा तो हो गया होने पर भी इतर निषेध है ना तद भेद ज्ञान भी उसके उससे भिन्न है समझ गया इतर नहीं है जो पूछा गया वस्तु आत्मा इतर से भिन्न है इतना ज्ञान होने पर वेद ज्ञान तो हो गया आत्मा इतर नहीं है इतर कोटि में नहीं इतर से अलग है ऐसा ज्ञान होने पर भी तुम एवं भूत तुम इस प्रकार के हो ऐसा विधि मुख से भी तो बताना चाहिए ना इतर जिसे विवाह तुम इस प्रकार के हो तुम एवं भूत तुम इस प्रकार के हो इति अनभिधान ऐसा न कहने पर अहम एवं भूत विज्ञान अभाव उसको ज्ञान नहीं होगा मैं इस प्रकार का वो ज्ञान नहीं होगा यह है कि इतर नहीं है इतर से अलग है इतना ज्ञान हो गया किंतु तो मैं इस प्रकार का हूं अपना ज्ञान नहीं रहेगा उसको इसलिए विधि मुखे न बोधन कार्य इसलिए विधि मुख से कहना आवश्यक है विधि मुख से कहना चाहिए कहा इसे कहते हैं आगे नाशी इत्यादि का इसे नाशी अमनुष्य युक्ति भी मनुष्यत्व आत्मनो न प्रतिपत्ति जो व्यक्ति तुम तो अमनुष्य नहीं हो कहने पर भी अपने को मैं मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता हो तो स कथम मनुष्योशी तो भी मनुष्य तुम आत्मा प्रतिबद्ध तो मनुष्य होता अंतर भी कैसे प्राप्त करे जब इतर व्यावृत्ति कर दिया उसके द्वारा भी अपने को नहीं पहचानता हो तो तुम अमुक हो का अंतर भी कैसे पहचाने ठीक पहचान ठीक है अपरोक्षतया माने वस्तु जो अपरोक्ष से प्रतीत हो रहा अहम विकल्प व्यावृत्ति का अंदर अहम अपरोक्ष रूप से प्रतीत हो रहा है अहम अहम देह विशिष्ट अहम तो हो रहा है मनुष्य हम अपरोक्षतया प्रतीयमाने वस्तु ने अपरोक्ष रूप से जो प्रतीत हो रहा है मनुष्यो हम ब्राह्मणो हम पुरुषो हम स्त्री हम इत्यादि अहम अपरोक्ष हो रहा होने पर किंतु केवल अहम नहीं हो रहा है विशिष्ट अहम हो रहा बात इतनी है तो अपरोक्षतया माने वस्तु में आत्मा अपरोक्ष रूप से प्रतीत है माने वस्तु विपर्यण गृहित है जो विपरीत रूप से मनुष्यत्वादि रूप से गृहित हो रहा है अपरोक्ष तो हो रहा है किंतु मनुष्य रूप से पहचान हो रहा है मनुष्यत्वादि विपर्य निराश मात्र गृहित है विपर्य निराश मात्र इतना कार्य है वह विपरीत जो बुद्धि हो गई थी उसमें निषेध करने में ही यह प्रयत्न करना चाहिए न तो स्वरूप बोले स्वरूप बोध के लिए वो तो अपरक्षस्त तो हो रहा है उसमें जो विपरीत था विपरीत वस्तु को हटाना शरीर को हटा देना अमनुष्य तो को हटा देना तो बना हटाओ यहां आपका सिद्ध हो जाएगा अपने तस्य स्वयं प्रतीति जब विपरीत वस्तु हटाने पर स्वरूप होने पर उसका स्वयं प्रतीति होता है तथा चेत न बोधुम सकती ऐसा होने पर भी यदि ज्ञान नहीं कर सकता है तथा चेत न बोधुम सकती इतना होने पर भी जब इतर व्यावृत्ति कर देने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है उस स्थिति में तो क्या होगा तो तभी अति मूढ़त्वाद उपदेश हमारा एवं वही इस काल में तो यही होगा अति मूढ़ का है वो उपदेश के योग्य नहीं अभी ऐसा समझकर अभी छोड़ देना चाहिए ये समय हो गया है नहीं करते ओम स्वामे मनसी प्रतिष्ठिता मनो प्रतिष्ठित आदि वेदस्य मानिसः कृतं मे मातः